छिन्न होकर के हाँ। ब्राह्मण देश की अलग क्षत्रिय देश की अलग है ना शासक देश की अलग और परिवेशक देश की अलग परसने वाले की अलग बनाने वाले की अलग खाने वाले की अलग खाने वालों की अलग अलग ये क्या है कि तो एक कल्पित रेखा जो है वो एक धरती को परिच्छिन्न कर देती है हिंदुस्तान पाकिस्तान है ना कहाँ से ये राष्ट्र का परिच्छेदक क्या है बोला बताओ ना है? हाँ। भारतत्वावच्छेदक धर्मावच्छिन्न और पाकिस्तानत्वावच्छेदक धर्मावच्छिन्न नारायण <laughs> ये देखो ये वेदांत ये हम इसलिए बताते हैं कि आपको मजा आ रहा है ना संस्कृत भाषा में बात जैसे सोची जाती है ना तो जब पाकिस्तान ही कल्पित है 25 बरस के पहले जिस 20 बरस के पहले जिसकी सत्ता नहीं थी है तो पाकिस्तान छेदक धर्मावच्छिन्न जो राष्ट्र है वो पूर्व में नहीं था ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई ना बाद में पैदा हुआ तो उसका अवच्छेदक सत्य कहाँ से होगा अवच्छेदक त्रैकालिक कहाँ से होगा बोला और वो अवच्छिन्नता त्रैकालिक कहाँ से होगी ये देखो तो असल में अब एक भाव का भेद है कल्पना का भेद है और कल्पना का भेद कहाँ से है, है? एक मिया जी आए बोले कि महाराज ये आज समाजियों ने तो बड़ा अनर्थ कर दिया तो क्या कर दिया बोले मुसलमानों को हिंदू बना लिया अब तो लड़ाई हुए बिना नहीं रहेगी होगा दंगा मैंने कहा अरे भाई उन्होंने हिंदू ही तो बनाया है ना है? अभी तो वो मनुष्य ही है ना कि मर गए यदि मुस्लिमत तो उनका निवृत्त भी हो गया तो मनुष्यत्व तो है ना एक एक बात देखो आदमी कहा दुखी कहाँ होता है आदमी के दुख का हेतु कहाँ है केवल अपने भाव पर चोट लगने से वो दुखी होता है और भाव तो तात्कालिक होता है तो अनवच्छिन्न होने पर भी अवच्छिन्नता अब कल हम गए स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज के यहाँ नौ बजे करीब उनके पास गए थे तो हम वर्षगांठ के बाद गए तो ये हुआ कि मक्खन खाओ तो मक्खन खाया हो वहां तो मक्खन खा के जब अपने स्थान पर आया तो हमारे सामने मखाना रखा गया खाने को तो तो दादाजी ने कहा कि आप माखन खा लीजिए मक्खन खाइए तो अभी क्या हुआ आप विचार करके देखो तो शब्द इसी का नाम अभ्यास हुआ मक्खन का अभ्यास मखाने में हो गया पूर्व परत्र पूर्वदृष्टा पूर्व दृष्ट मक्खन का स्मृति स्मृति के समान रूप धारण करके और वो मखाने में दिखने लग गया ऐसा आप इन सब शब्दों को बहुत तो देखो वस्तुतः ये जो चैतन्य है ये देश काल वस्तु से देश काल वस्तु उपाधि बन करके भी इसको अवच्छिन्न करने में समर्थ नहीं है क्योंकि मिथ्या उपाधि सत्य का अवच्छेदक हो ही नहीं सकती कोई आत्मदेव जो है ये भिन्न है हो हाँ। खेत सबके अलग अलग हैं और खेत सब अलग अलग हैं पर किसान एक ही है सैनिक अलग अलग है सेनापति एक ही है प्रजा अलग अलग है राजा एक ही है क्षेत्रज्ञ वृद्धि सर्व क्षेत्र भारत अच्छा तो अभिन्न है सब में आत्मा अभिन्न होने पर भी भिन्न सा भाषता है वेद जो है दोनों तरह से वर्णन करता है देखो अविषय रूप से आत्मा का वर्णन सुनो शास्त्र में हम आपको सुनाओ न चक्षुषा गृह्यते आंख से देखा नहीं जा सकता वाणी से बोला नहीं जा सकता न तत्र मनो गच्छति न बाघ गच्छति न विदमो न विधानी महा एक और अब दूसरी ओर देखो तमेव भाम अनुभा अनुभाति सर्वम सत्य भाषा सर्वमिदम विभाती है अरे वो प्रकाश रहा है तब तो सब प्रकाश रहा है ये तो पहचान है हाँ, एक दिन एक कोई पंडित आया हमारे पास मैंने कहा भाई काशी में मैंने बहुत पंडित देखे पर एक पंडित ऐसा भी था जो विद्वान भी है सदाचारी भी है निरभिमान विनयी भी है संध्या वंदन आदि और जो अपना आचार है उसका पालन करता है बड़ा ही पवित्र है उसका ऐसा कौन है स्वामी आप बताना तो हम कह रहे भाई है तुम जान के क्या करोगे बोले कौन है ऐसा हम जाके उसका दर्शन करेंगे उससे मिलेंगे है ना ऐसे सदाचारी पुरुष से मिलकर खुशी होगी मैंने कहा पंडित जी ऐसा दूसरा कोई नहीं है आप ही हो है ना आप ही काशी से आए हो आप ही पंडित हो आप ही सदाचारी हो है आप ही विद्वान हो आप ही विनयी हो ना जितने मैंने गुण धर्म बताए वो सब आपके ही थे आपने पहले उसको कोई परोक्ष पंडित समझा अब आप उसको अपरोक्ष पंडित ये दशमस तमसी का यही अर्थ है बोला दशमस तमसी जो है दसमस कमसी का यही अर्थ है तो परमात्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो ऐसा कहाँ है अरे यही है तो कौन है तो तुम ही हो है ना अभिन्नोपी भिन्न भिन्न ही हो वेद कभी भेद का प्रतिपादन कर नहीं सकते शास्त्रार्थ की बात तो तो पंडितों की तो मानांतर प्रसिद्धत्वात भेद जो है वो दूसरे प्रमाणों से मालूम पड़ता है आंख से कान से नाक से तो जब दूसरे प्रमाणों से भेद मालूम पड़ गया तो उस भेद को बताने के लिए श्रुति तकलीफ क्यों उठा रही नाई ठाकुर कितने बार का सरकार आपके सामने नहीं हम्म। कोई बाल बनवाते समय नाई से उसने पूछा हो कि हमारे सिर पर कितने बाल हैं उसने कहा सरकार सब आपके सामने गिर रहे हैं मैं एक भी अपने पास नहीं रखा हूँ है ना आप गिन लो फिर <laughs> जब आपकी आंख से नाक से जीव से भेद मालूम पड़ता है तो वेद भेद का प्रतिपादन करने का कष्ट क्यों उठावे वो तो प्रमाणांतर से अनधिगत हो गए दूसरे किसी प्रकार से अगर भेद न मालूम होता हो तो अज्ञात ज्ञापक न वेद भेद का वर्णन करे मानांतर प्रसिद्धत्व मिथ्यात्वा और जितना भेद है वो अपने अधिष्ठान में है ना बिना हुए भाग रहा है अधिष्ठान ज्ञान से बाधित हो जाता है अप्रयोजनात्म अभेद के ज्ञान से तो मुक्ति होगी दुख की निवृत्ति होगी जड़ता की निवृत्ति होगी बंधन की निवृत्ति होगी भेद के ज्ञान से क्या होगा मानांतर प्रसिद्धत्वात मिथ्यात्वात अप्रयोजनात् अंतर विरोधाच और दूसरी श्रुति कहती है द्वितीय नहीं वस्तु एक रुद्रो न द्वितीय आयत निहारेण प्रावृता कल्पिया उपससासरती तो न श्रुतिर भेद गोचरा श्रुति भेद का कभी प्रमाण भेद को कभी प्रमाणित नहीं करती क्योंकि ऐसा करने में श्रुति जो है ना वो डॉक्टर का रजिस्टर बन जाएगी वो इस रोग पर ये दवा दी तो इतने रोगी मरे और इतने जिंदा रहे देखो हिसाब डॉक्टर के पास हिसाब है इस रोग में मैंने इस दवा का प्रयोग किया तो पचास रोगी मर गए पचास जिंदा रहे बोले अब ये दवा नहीं हुई अच्छा चालीस मर गए साठ जिंदा रहेगा अभी भी ये दवा नहीं बोले तीस मर गए सत्तर जिंदा रहे कहा हाँ, कुछ कुछ फायदा तो मालूम पड़ता है तो बोले नहीं भाई बीस मरे अस्सी जिंदा रहे तब ये जरूर दवा है इस रोग पर इस दवा का प्रयोग करना चाहिए तो वेद ऐसे मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों का संप्रयोग कर करके वेद नहीं लिखे गए हैं बोला ये इंद्रियक अनुभूति के अनुवाद नहीं है ये अतीन्द्रिय वस्तु का इंद्रियातीत वस्तु का अपौरुषेय वस्तु का पुरुष के अंतकरण के अनुभव का जो अगोचर पदार्थ है उस पुरुष के स्वरूप का निरूपण करते हैं ये महाराज देहेन्द्रियादिकों के भेद को अपने में आरोपित करके अभिन्न भी भिन्न हुआ सा भाजता है अकर्ता भी करता सा भाजता है देखो सारी लड़ाई होती है झगड़े होते हैं राग द्वेष होते हैं अपने को भिन्न मान करके कि नहीं है? यदि आप अपने को अभिन्न जान जाएं तो राग द्वेष से मुक्ति मिल जाएगी कि नहीं आप अपने को पापी या पुण्यात्मा मान करके अभिमान करते हैं दुख होता है कि नहीं अच्छा जब आप अपने को पापी मान के बैठते हैं तो दुख होता है कि नहीं होता और जब आप अपने को पुण्यात्मा मान करके अभिमान करते हैं हमारे तरीका कौन और कोई दूसरा आके आपसे बड़े पुण्यात्मा का वर्णन करने लग जाए पाप में हीनता का भाव आ जाएगा तुरंत दुखी हो जाएंगे दुखी हो जाएंगे तो दुख है ना अपने को पुण्यात्मा मानने में भी दुख है क्योंकि कभी पाप हो जाएगा तो भी दुख होगा और कोई पापी कह देगा तो भी दुख हो जाएगा और कभी पुण्य न कर सकोगे तो भी दुख हो जाएगा पाप पुण्य दोनों में दुख का बीज विद्यमान है तो आप स्वयं प्रकाश चैतन्य जिसमें हाथ नहीं पाव नहीं जीव नहीं है? जिसमें मूत्रेंद्रिय नहीं जिसमें गुदा नहीं है? उससे कर्म कैसे होगा तो जिसमें आख कान नाक आदि इंद्रिया नहीं वो विषयों का परिच्छेदक ज्ञान रूप भोग कैसे करेगा रसास्वादन ग्रहण कैसे करेगा अकर्ता स्वयं प्रकाश करता होने पर भी आप अपने को जो कर्ता सरीखा मालूम कर रहे हैं अभोक्ता जो भोगते हुआ है तो आप अभोक्ता परंतु अपने को भोक्ता मान रहे हैं विषय नहीं है लेकिन अहम अहम अहम है ना ये जो दाल चुल रही है गर्मी के कारण दाल में गुलगुले उठ रहे हैं अहम अहम अहम काल कच्ची है अभी पति नहीं है बोला हाँ हम लोग पहले गांव में हो गुड़ पकता था ना गुड़ पकता था खड़ा तो रस में उबाल आता था पहले काई पहली पहली चीज उसमें आती थी मलिनता जो गन्ने के रस में जो मलिनता होती वो निकल के खा जाती ऊपर तो काई को काट करके पहले फेंक देते उसके बाद उसमें उबाल आने लगता उछाल आने लगता तो गुड़ पक गया इसकी पहचान क्या थी तो जब उसमें उबाल आना बंद हो जाए पता लेके हाथ में देखा चाकू को बिल्कुल थोड़ी देर में हाथ में लेके और थोड़ा फूक लिया और गोली बन गई गोली बन के मेरे पट गई तो ये जो छलक है ना नारायण अहम अहम आप आप पानी है कि है ना नारायण आप पानी है कि बुदबुदा है बुदबुदा अगर पानी से अलग अपने को समझता है तो गलत समझता है ना आप बुलबुला नहीं है पानी है आप खुदकने वाली चीज नहीं है आप जल है यहाँ वहाँ वहाँ जो खुदक रहा है है ना ये तो काल का बच्चा है काल का खिलौना काल का खिलौना आपके दिल आपके दिल में बैठ के खेल रहा है अहम अहम अहम क्या है तो ये हम आप नहीं है आप घड़ा नहीं है माटी है आप जेवर नहीं है सोना है है ना आप जीव नहीं है चैतन्य है अपने आप को न जान करके जीव भाव को प्राप्त हो गए इसका नतीजा ये निकलता है कि स्वर्ग में जीव जाता है नरक में जीव जाता है उपास लोक में जीव जाता है, है? समाधि और विक्षेप में जीव जाता आता है आप तो सोलह आने जिदा कहां हैं तो इसलिए ये केवल उपाधि के भेद के कारण ये अत्यंत लौकिक अत्यंत मोटी उपाधियों के भेद के कारण ये अनेक धर्म वाला मालूम पड़ता है और बदलता हुआ सा मालूम पड़ता है आप ये बात ध्यान रख लो मैंने अयोध्या में जाकर वहां के जो बड़े बड़े विद्वान उस समय थे प्रसाद जिनको ईश्वर का प्रसाद प्राप्त पावे पंडित राम बल्लभा शरण जी ने अपने श्रीमुख से हमको बताया कि मैं जन्म का ब्राह्मण नहीं हूँ भूमिहार हूँ मैंने संस्कृत साहित्य का विधिपूर्वक स्वाध्याय नहीं किया है बोले महाराज इतने बड़े अगाध विद्वान आपसे कोई विद्या छूटी नहीं और आप कहते हैं मैंने अध्ययन नहीं किया है क्या हुआ बोले हमको तो हमारी बैठ के उपासना करते थे हमारा इष्ट देवता हमारे सामने प्रकट हुआ हाँ। उसने कहा कि 24 घंटे के अंदर जितने ग्रंथों की शक्ल तुम देख लोगे हाँ, वो सारे ग्रंथ तुमको कंठस्थ हो जाएंगे उनका विषय तुम्हें स्फुरित हो जाएगा है ना और मैं तो बस काशी में जितने बड़े बड़े पुस्तकालय हैं जाके एक बार देख आया तो मैंने ये तो उनकी तारीफ बताई हो देखो इसमें उपासना का चमत्कार भी है और महात्मा की सरलता भी है अच्छा फिर मैंने कहा कि महाराज आप ये बताओ कि आप ईश्वर को सचमुच अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हो है ना ईश्वर चेतन है और जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है चेतन में परिणाम होने पर या तो चेतन परिणाम का साक्षी हो गए और या तो वो परिणाम को प्राप्त हुआ तो उसकी चेतनता नष्ट हो जाए साक्षी नहीं रहेगा चेतन कहते हैं अपने आत्मा को साक्षी को ज्ञान को जानकार को तो बदलते हुए को देखता है अगर खुद बदले अगर खुद बदलने लग जाए तो उसका बदलना किसको मालूम पड़ेगा तो देख एक तो अब आत्मा से अन्य चेतन की सिद्धि नहीं होती वो तद रूप से भी सिद्ध नहीं होगा इदम रूप से भी सिद्ध नहीं होगा है ना क्योंकि वो तो प्रकाश है दृश्य है जो हमारे अनुभव का विषय होगा वो चेतन नहीं क्यों बोले वो तो स्वयं अनुभव स्वरूप है आत्मा है और यदि वो बदलता है तो जो बदलने का साक्षी है आत्मा वो चेतन है और मैंने कहा महाराज आप अब ईश्वर को चेतन भी कहते हो और अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी कहते हो है? ये बात कैसे बनेगी वो बोले कि देखो हम लोग भी जो चेतन को अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हैं वो उपासना के लिए ही मानते हैं हाँ। नव नवोन्मेष सालित्व चैतन्य में मानना माने वृत्ति के साथ चैतन्य का खेलना उपासना के लिए मानते हैं और स्वरूप तक चैतन्य में किसी प्रकार का विकार नहीं है विवर्त भी नहीं है ऐसे ऐसे बोले तो कि जिस विवर्त का तुम लोग उपादन करते हो वो विवर्त भी वो विवर्त भी नहीं है क्योंकि यदि अधिष्ठान और दृष्टा की भिन्नता का संस्कार नहीं होगा दृष्टा को अधिष्ठान में विवर्त दिखाई पड़ता है तो जहां तक अविद्या काल में माने हुए दृष्टा और अधिष्ठान का भेद नहीं रहेगा तब तक दृश्य प्रपंच में तब दृश्य प्रपंच में विदर्तत्व कहां से रहेगा इसलिए जैसे तुम अभेदक ज्ञान के लिए विवर्त की कल्पना करके वस्तु को समझाते हो वैसे हम उपासना के लिए परिणाम की कल्पना करके वस्तु को समझाते हैं हमारे तुम्हारे वस्तु संबंधी दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है ठीक है जो व्यक्त बात है पंडित दामोदर लाल गोस्वामी जी थे अतुल जी के दादा व्यक्त थे अतुल कुछ भी था और काशी में उनको बिल्कुल हो नगाड़ा बचता था बड़ा भारी विश्वास बड़ा भारी विश्वास तो ये आपको सुनाया और हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि श्री कृष्ण की आंख में और उनके नाखून में क्या भेद है ये हमको बताओ है ना आप निर्वचन करके ये बात बताओ कि श्री कृष्ण का नाखून भी चिन्ह मात्र और नेत्र भी चिन्ह मात्र बताओ दोनों में भेद कहाँ से आया लोग बहुत हंसे बोले कि भाई हम समझते हैं जो तुम पूछ रहे हो उसको समझते हैं हमारा तुम्हारा कोई मतभेद नहीं है ऐसे ही हंसे बोले कि जो तुम पूछ रहे हो उसको हम समझते हैं हमारा तुम्हारा कोई मतभेद नहीं है तो केवल बांध ये जो विवेक का अभाव है ये श्री भगवती का ये बात बता रहे हैं आपको पहले पंक्ति सुना देता हूँ नहीं चिदेक सस्य आत्मन चिदन से गृहित अगृहीतम किंचित अस्ती न खलु आनंद नित्यत्व विभुत्वादय चिद्रूपाद वस्तु तो भिद्यंते जे न तद ग्रहे न गृहजेरान गृहीता एवं तू कल्पित न भेदे न विवेचिता इति अगृहीता इवा भांति नारायण देखो भाई यदि तुम अपने आप को चिन्ह मात्र जान गए चेतन एक रस है और आत्मा है ये आत्मा नहीं है ये माता से भी उल्टे है धर्म में माता होती है वो धर्म धर्म में माता है कि नहीं और प्रमाण प्रमेय के व्यवहार में माता है कि नहीं प्रमाता प्रमाण प्रमेय के व्यवहार में माता की उपस्थिति है और धर्म व्यवहार में माता की उपस्थिति है और आत्मा क्या है तो दोनों से विपरीत है जब शब्द बनाया गया तो ध्यान में रखा गया था आ क मा और मा क आ है ना तो शब्द में वैपरीत मालूम पड़ता है कि नहीं आ आ क मा है ना और मा क आ माता क्या इसका अभिप्राय क्या हुआ कि असल में जहां माता पुत्र का व्यवहार है उससे भी विलक्षण है ये और जहाँ प्रमाता और प्रमेय का व्यवहार है उससे भी विलक्षण है ये तो आत्मा का विवेक होने पर चिदन से गृहित नागृहित किंचित अस्थि यदि अपने को मात्र आपने जान लिया तो कुछ भी अज्ञात नहीं है अच्छा आपको आनंद की बात सुनाता हूं अच्छा बड़े आनंद की बात है मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा वो अच्छा आपको आनंद जब मालूम पड़ता है तभी होता है ना तो आपको तो दुख भी मालूम पड़ता है तो दुख भी मालूम पड़ता है तभी होता है आप देखते हैं तो आनंद है बाहर उसकी उपलब्धि होती है कि उपलब्धि आनंद को प्रकाशित करती है कि उपलब्धि और आनंद दोनों के हैं आपको तो थोड़ा विवेक करोगे अब ये नहीं भाई कि केवल सभा में बैठ के तो वेदांत सुनोगे और घर में बैठ के कभी नहीं सोचोगे है ना मनन नहीं करोगे इस पर तो इसका आवरण भंग नहीं होगा पर्दा नहीं हटेगा हाँ। जब सोसाइटी में जाना हुआ तब पति पत्नी हंसते हुए चले गए और एकांत में नहीं मिले तो पर्दा हटेगा पति पत्नी का पर्दा तो एकांत में हटेगा तब न रसास्वादन होगा सोसाइटी तो में तो पर्दा नहीं हटेगा ना तो वहाँ मुख्य रस का आस्वादन कैसे होगा श्रृंगार रस का आस्वादन भी तो आवरण भंग हुए बिना नहीं हो सकता और ये नारायण उपलब्धि उपलब्धि माने है ना ज्ञान हाँ, उपलब्धि ज्ञानम इसी अनर्थांतरम उपलब्धि माने ज्ञान अच्छा ज्ञान न रहे तो आनंद होगा आप बताओ कल्पना करो कि ज्ञान तो न हो परंतु आनंद हो ऐसी कोई स्थिति हो सकती है आनंद ज्ञात तय तो है ना ज्ञात तया ही तो आनंद होगा ना हाँ। अच्छा आनंद न हो तो ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा आनंद न रहे अरे संसार के आनंद की बात करो आनंद न रहे तो ज्ञान रहेगा ज्ञान तो दुख का भी होता है आनंदाभाव का भी होता है है ना सुसुप्ति का भी होता है मूर्छा का भी होता है समाधि का भी होता है है ना आनंद न रहे तब भी ज्ञान रहेगा और ज्ञान न रहे तो आनंद नहीं रहेगा इसलिए ज्ञान से ही आनंद को अस्तित्व लाभ होता है हम जिसको देखते हैं उसको आनंद बना लेते हैं बेवकूफी से देखते हैं तो आनंद को दुख बना लेते हैं है? और बेवकूफी से देखते हैं तो दुख को आनंद बना लेते हैं असल में हमको दुख और आनंद बाहर के दुख और आनंद की कोई अपेक्षा नहीं है ज्ञान मात्र ही अपेक्षित है क्योंकि ज्ञान से पृथक न आनंद है और न दुख है परंतु आनंद और दुख का जो द्वंद्व है उससे पृथक ज्ञान है तो यदि ज्ञान का स्वरूप ज्ञात हो जाए तो ज्ञान नित्य है ये भी ज्ञात हो जाएगा ज्ञान विभू है ये भी ज्ञात हो जाएगा ज्ञान आनंद है ये भी ज्ञात हो जाएगा असल में नित्यता विधुता और आनंद रूपता देखो विषय में आनंद अध्यस्त है काल में नित्यता अध्यस्त है और देश में विभुता अध्यस्त है, है? और देश काल और वस्तु का जो व्यस्ति रूप है सो इंद्रिय गम्य है और जो समष्टि रूप है वो कल्पना मात्र है और अपना आत्मा जो है वो न इंद्रिय गम्य है न कल्पित है देश विभू देश जो है ना इसकी समष्टि रूपता कल्पित है कल्पित है माने केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का अंत या प्रारंभ कहा होगा कल्पित है बिल्कुल वो हमारे मन में उनका उदय होता है बाहर नहीं और काल कब शुरू हुआ और कब उसका अंत होगा यह मन में या तो उदय शादी शादी और शांत की कल्पना कर लें चाहे अनादि और अनंत की कल्पना कर लें लेकिन कल्पना सापेक्ष ही उसका ज्ञान है तो देश काल वस्तु का जो व्यस्ति रूप है वो इंद्रियक है इंद्रियगम्य है और जो समष्टि रूप है वो कल्पित है कल्पनागम्य है यदि उसकी दृष्टि से ईश्वर को देखोगे तो वो भी कल्पित हो जाएगा और अपना जो स्वरूप है वो अकल्पित है और तो ये जो अकल्पित चिदात्मा है इसके ज्ञान से कुछ भी जस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवती ऐसा ये चिदित रस आत्मा है यदि इसको हमने समझ लिया तो कोई भी बात ना समझी हुई नहीं रह जाएगी बात यह है कि असल में हम नित्यता को भी देख रहे हैं विभुता को भी देख रहे हैं आनंद को भी देख रहे हैं विक्षेप को भी देख रहे हैं शांति को भी देख रहे हैं समाधि को भी देख रहे हैं देख रहे हैं, हाँ। परंतु विवेक नहीं करते हैं इसलिए ठीक ठीक नहीं समझते हैं देखते रहे हैं परंतु विवेक की कमी के कारण ठीक ठीक नहीं देख रहे हैं बस विवेचिका जहाँ इनका विवेक हुआ यहाँ अपने सुख अच्छा अब विवेक ही क्यों नहीं है इसका भी कारण बताता हूँ हमारे श्री हरि बाबा जी महाराज हैं आप जानते हैं बड़े पुराने महात्मा हैं हमारे उड़िया बाबा जी महाराज के साथी हैं हम लोग बड़े गौरव के साथ हमको देखते हैं तो वृंदावन में एक गोस्वामी जी कथा सुनाते थे सरंगा पर तो गोस्वामी जी अपने को प्रभु का आप नित्यानंद जी का बनकर बताते हैं अपने को बहुत बड़ा तो हरि बाबा जी स्वयं उनके घर में जाके जब कथा होने लगती तो जाके बैठते और कथा होने उसके चले आते तो ये बड़े संपन्न हैं उनके घर में कहीं दुशाले और कहीं पीताम्बर और कहीं रेशमी कपड़े और क्या क्या सब खूबियों पर करके होते थे मैंने बड़े संपन्न है ये बात मालूम पड़े तो जो साथ जाता था हरि बाबा जी पे आदमी उसने कहा कि महाराज ये इतने भक्त हैं पर इतना संग्रह इनके पास क्या है तो हरि बाबा जी बोले क्या संग्रह बोले दुशाले और रेशमी कपड़े और फलानी फलानी चीजें तंगी हुई है सब तो बोले कि देखो चार महीने से मैं रोज उस कमरे में जाके बैठता हूँ लेकिन मैं तो उनकी कथा सुन के आ जाता हूँ मैंने भीत की तरफ देखा ही नहीं कि क्या कथा हुआ है तुम भीत देखने जाते हो कि कथा सुनने जाते हो अच्छा अभी ये तो हुआ दृष्टांत हो जरा दारिष्टांत की बात सुनो बोला चित्त में वैराग्य न होने के कारण संसार के लिए और ब्रह्मात्मय के विषय जिज्ञासा न होने के कारण हम दुनिया के भिन्न भिन्न वस्तुओं के बारे में तो विचार करते रहते हैं परंतु अभेद के बारे में विचार नहीं करते है ना यदि वैराग्य हो चित्त में परिच्छिन्न पदार्थों से वैराग्य हो नाशवान पदार्थों से विनाशी पदार्थों से वैराग्य हो है? और अविनाशी वस्तु की जिज्ञासा हो है तो आप विवेक का उदय होते ही ये बात कोई बहुत कठिन नहीं है ये तो चुटकी बजाते ब्रह्म ज्ञान वाली बात है आप इसको मुश्किल नहीं समझना है ना ऐसा हो सकता है कि किसी को सुनते सुनते ही और ना अविद्या ग्रंथि का भेदन हो जाए और फिर उसको कभी कुछ साधन नहीं करना पड़े ऐसा हो सकता है केवल श्रवण मात्र से कर्म का ज्ञान होता है तो जाके नहाना पड़ता है संध्या वंदन करना पड़ता है पूजा करनी पड़ती है और सेवा आदि का ज्ञान हो ना तो गरीब के घर में जाके उसको खिलाना पड़ता है रोटी देनी पड़ती है ये ज्ञान जो है नारायण ये तो हृदय का आवरण भंग करने वाला है बाहर कुछ करने के लिए नहीं है इसलिए वैराग्य और जिज्ञासा इन दोनों के न होने से ठीक ठीक विवेक नहीं होता और विवेक न होने से अध्यस्त और अधिष्ठान का भेद ज्ञात नहीं होता है और अध्यस्त भी अधिष्ठान भाजता है इसलिए वो नित्य भाजता है विभु भाजता है आनंद रूप भाजता है और उसमें फंसे रहते हैं इसलिए आओ विवेक के मार्ग में आओ ब्रह्मसूत्र का विचार करें ये विचार ही समग्र दुखों को निवृत्त करने में समर्थ है ओम शांति मैं और मैं का ज्ञान ये संबंध ज्ञान जो है ना ये संबंध ये मिथ्या ज्ञान है सर्वदृश्यमानृतम भूतम मङ्गलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलम् विदुः ॐ ब्रह्म तन्मङ्गलम् विदुः उपनिषदों में अद्वैत तत्व का निरूपण है संपूर्ण उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत तत्व में ही है ये निर्णय करने के लिए निश्चय करने के लिए ब्रह्मसूत्र की प्रवृत्ति हुई ब्रह्मसूत्र पर आज सबसे प्राचीन जो भाष्य उपलब्ध है वो शानदार भाष्य शारीरिक भाष्य शांकर भाष्य पर अब तक भिन्न भिन्न प्रकार की टीका और टिप्पणी पंचपादिका विवरण विवरण रहस्य तत्वदीपन विवरण प्रमेय संग्रह वो परंपरा चली है ऋजु विवरण विवरण की चार टीकाएं पांच टीकाएं तो विवरण की ऋतु है और भावती प्रस्था कल्पतल परिमल और विजु प्रकाशिका रत्न प्रभा ऐसे अनेक अनेक उनके विस्तार हैं फिर दूसरे संप्रदाय वालों के जो है उनका तो कहने को तो शारीरिक भाष्य की व्याख्या करने के लिए भामती की प्रवृत्ति हुई भामती वाचस्पति मिश्र की टीका है तो आपने सुना होगा कि वाचस्पति मिश्र अपनी जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक केवल शास्त्रों का विवरण करने में विवरण माने खुलासा हो वरण माने पर्दा और विवरण माने बेतरफ विवरण माने किसी चीज का पर्दा हटा देना माने शब्दों के पर्दे में जो अर्थ छिपा हुआ है उसको खोलकर लोगों के सामने रख देना इसका नाम होता है विवरण का खुलासा करना बेपरख कर देना ये करते रहे अत्यंत बाल्यावस्था में उनका विवाह हो गया था और वो तो महाराज न्याय दर्शन पर टीका लिखे और, और सांख्य दर्शन पर टीका लिखे वैशेषिक दर्शन पर टीका लिखे मीमांसा दर्शन पर टीका लिखे योग दर्शन पर टीका लिखे और वेदांत दर्शन पर तो एक दिन वो टीका लिख रहे थे कि उनके पास एक ब्राह्मण आया महाराज हमें अपनी पुत्री का विवाह करना है आप हमारी कुछ सहायता कीजिए तो वाचस्पति मिश्र के ध्यान में नहीं आया कि हम इसकी क्या सहायता कर सकते हैं बीस बरस पहले उनका विवाह हुआ था समझो दस बरस की उम्र में विवाह उस समय हुआ हो तो चालीस बरस की उनकी उम्र हो गई थी और तीस बरस से उनकी पत्नी उनकी सेवा करती थी तो उन्होंने आंख उठा कर देखा कि कौन है जो इस काम में हमारी मदद कर सकता है तो पत्नी ने अपने दोनों हाथ का कंगन निकाल कर उनके सामने रख दिया कि इस ब्राह्मण को दे दो वो समझ गई कि ये कुछ देना चाहते हैं और इनको और दूसरा कौन देगा तो उन्होंने कंगन उठा के ब्राह्मण को दे दिया और फिर गौर से देखा और पूछा कि देवी तुम कौन हो लक्ष्मी हो सरस्वती हो कौन हो जो इस प्रकार अपने हाथ का कंकण उतार के हमको दे देती हो वो बोली महाराज मैं आपकी काफी हूँ भानती तब उनको ख्याल आया कि हाँ हमारा विवाह भी हुआ था बोले अच्छा देवी तुम क्या चाहते हो तो स्त्री के मन में संतान की इच्छा थी परंतु वो स्पष्ट रूप से कह नहीं सकती थी कि मुझे संतान चाहिए और उसने कहा कि मुझे मेरा नाम चाहिए कि मेरा नाम चलता रहे तो उसका अभिप्राय था संतान से पर ये घटाकाश मठाकाश के चक्कर में पड़े हुए है ना ये तो उपाधि उपहेद अवच्छेद का अवच्छिन्न हो और इनके ध्यान में ये आया ही नहीं कि ये नाम चलाना चाहती है माने संतान चाहती है ये बात इनके ध्यान में नहीं बैठी क्योंकि छहों दर्शन में नाम चलाने का अर्थ वंश चलाना कहीं लिखा ही नहीं है तो उन्होंने कहा अच्छा देवी तुम अपना नाम चाहती हो तो ये ग्रंथ जो मैं ब्रह्मसूत्र पर शंकर भाष्य का विवरण करने के लिए लिख रहा हूँ इसका नाम मैं भामती रखे देता हूँ बोला तो इस प्रकार इस ग्रंथ का नाम भामती पड़ा है ना तो उसकी आपको ये अभ्यास के प्रसंग में दो चार पंक्ति है ना सुनाता हूं ये कहते हैं कि नहीं चिदेक रसस्य आत्मन चिदंसे गृहीते अगृहीतम किंचित अस्ति यदि आप अपने आत्मा का चित स्वरूप समझदार कि चेतन एक रस है स्वयं प्रकाश है और वो अपना आत्मा है आप निर्विकार चैतन्य निर्विकार चैतन्य आत्मा को जान जाए तो कोई भी ऐसी बात नहीं रहती जिसको आप न समझें सारी नासमझी दूर हो जाएगी उस समय जिस समय अपने चैतन्य एक रस आत्मा को आप जान जाएंगे आत्मयुदम सर्वम क्योंकि आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं आत्मयुदम अमृतम पुरस्ता आत्मय ही सामने है आत्मा ही पीछे है दक्षिणतः वामतः उत्तरतः वही दाहिने है वही बाएं है पहले लोग पूर्व मुख से ज्यादा बैठा करते थे वो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए तो क्यों तो वो उत्तर को बाएं देते थे वामता उत्तरता बोलते और दक्षिण को दक्षिणता बोलते थे तो पूरब मुंह से जब आदमी बैठेगा तो दक्षिण दक्षिण हो जाएगा और उत्तर उत्तर हो जाएगा तो ये पूर्व मुख से बैठने की प्रथा भी बड़ी सुंदर थी इसका क्या मतलब है कि प्रकाश का आदर करते हैं जहां से ज्ञान आता है सूर्य आता है चंद्रमा आता है ग्रह नक्षत्र तारे आते हैं उस दिशा की ओर मुंह करके हम बैठे हैं अर्थात हम अभ्युदयनीय कर्म का आदर करते हैं प्रकाश का आवाहन करते हैं हमारे जीवन में ज्ञान प्रकट होगा तो दाहिने भी आत्मा बाएं भी आत्मा सामने भी आत्मा पीछे भी आत्मा नीचे भी आत्मा ऊपर भी आत्मा ऐसा श्रुति भी निर्देश है और प्रतिज्ञा यह है कि एक ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए ये तो आपको मालूम ही है तो अब देखो चिदेक रस आत्मा के ज्ञान से कुछ भी अनजाना बाकी नहीं रहता ये भक्ति का अर्थ है चिदेक रसस्य आत्मन नहीं चिदेक रसस्य आत्मन चिदन से गृहते अगृहितम किंचिदस्ते बोले ठीक है आत्मा की बात छोड़ो जरा चिन्ह मात्रता जो आत्मा है उसको समझने की कोशिश करो यदि आत्मा को केवल चेतन मात्र चिन्ह मात्र जान जाओगे तब भी अनजाना हुआ कुछ नहीं रहेगा अरे बस ये तो जरा सी बात है हाँ। तो जरा सी बात क्या है कि एक तो ये चैतन्य जो है बदलती हुई चीजों में बदलता नहीं आप ये ध्यान में ले ये जो ज्ञान मात्र साक्षी मात्र आत्मा है ना बेटा आया गया है ना पत्नी आई गई घड़ा आया गया मकान आया गया देश बचपन से जवान हुआ जवान से बुढ़ा हुआ है ना और मन अच्छा हुआ और बुरा हुआ और सो गया और बुद्धि ने ठीक निर्णय लिया गलत निर्णय लिया विक्षेप हुआ समाधान हुआ लेकिन ये साक्षी स्वरूप आत्मदेव जो है वो ज्यो के त्यों है ये एक रस है निर्विकार है अच्छा अब आप देखो ये वेदांत की मामूली बातें आपको सुनाता हूं ना तो चेतन का लक्षण ये है कि जो सबको प्रकाश है और स्वयं अपने को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत न रखे सबको चमकाता है लेकिन स्वयं खुद चमकता है इस पर भी विचार करेंगे कि ये चमकना क्या है